और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूं उन्होंने कहा क्या तू ज़मीन में उसको बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा और हम आपकी तारीफ के साथ आपका हर ऐप से पाक होना बयान करते हैं और आपके लिए पाकिजगी बयान करते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते